इतने सुंदर तीन तीन वक्तृताओं के बाद इच्छा तो हो रही थी कि चैतन्यानंद जी महाराज और बोले और बोले फुटबॉल में जैसे सडन डेथ होता है वैसे उनका भी अचानक रुक जाना और बीच बीच में जैसे मसाला होता है स्पाइस है सबरे सेक्रेटरी महाराज का बीच बीच में मंथन करना वो भी अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहा और राघवेंद्र आनंद जी ने तो हम सबका मन एक विशेष ऊंचाई तक ले गए काश घड़ी को कोई थाम दिया होता तो और भी उनसे हम सुन सकते थे अब मेरी बारी पता नहीं मैं क्या कह सकूंगा स्नेह न बदना से मनोस्मदीयम दोषान शेषान सगुणी करोसि नानो दयसे सदोषान स्वांके गृहत्वा यदिदम विचित्रम तीन माँ के उद्देश्य से पड़ा मंत्र ये शारदन अभ्युदानंद जी लिखते हैं इसको अर्थ स्नेह न वदना से मनो माँ तुम अपने स्नेह से अतुलनीय स्नेह से हम सब संतान को बांध के रखी हो दोषान अशेषान सगुणी करो से विशेषण क्या है हम संतान कैसे हैं तुलसी पत्र गंगा जल में धुला हुआ दोषों से आपलूत दोषों से भरे हुए हम सब मस्त संतान गणों को आप वैसे ही दोष समेत अपने अंक में अपने गोदी में समा लेती हो माँ अहे तु दया से सदो संग न अर्थात हम सब पर अहे तो की कृपा अहेतु की कृपा विदाउट एनी रीजन माँ क्या बताए आपके प्रति आपके मन में क्या कहे स्वांग के गृहित्वा यदिदम विचित्र यही वैचित्र है आप में साधारण माँ भी कभी कुपिता हो सकती है मगर हे माते इसमें हम देख रहे हैं कि जगत जनने का एक मातृत्व रूप एक और मां के शिष्य बहुत पंडित लीला प्रसंग को अंग्रेजी में अनुवाद किया गॉस्पल जगदानंद जी महाराज मां के शिष्य वे मां को गुरु के रूप में देखते हुए पढ़ा मंत्र लिखते हैं नमस्ते भुवनेशानी नमस्ते प्रणवात्मके सर्व वेदांत संसिद्धे श्री शारदा गुरु मूर्त गुरु के रूप में ये देखते हैं म को नमस्ते भुवन ईशानी इस धातु रेट प्रत्यय करके ईश्वर उसमें आयाम प्रत्यय करके स्त्रीलिंग अर्थात ईशानी आप ही समस्त भुवन के परिचर्या आप ही करते हैं आपके ही देखरेख में यह जगत संसार चलता है नमस्ते प्रणवात्मा क्या प्रणव स्वरूपिणी है ओंकार स्वरूपिणी सर्व वेदांत संसिद्ध ठाकुर कहते वो क्या कम है वो मेरी शक्ति है साक्षात सरस्वती रूप ढककर इस बार आई है तो समस्त वेदांत उनके छोटे छोटे बातों पर वेदांत वेद वेदांग सब छिपे हुए हैं श्री शारदा गुरु मूर्त है माँ के एक और शिष्य सत्य स्वरूपानंद जी विशेष महाराज वे लिखते हैं माँ को देवी के रूप में देखते हुए लिखते हैं प्रसिद्ध देवी शारदे जगदम्बिके शुभे आरती हंत्री प्रपन्ना नाम तम प्रसिद्ध परमेश्वरी पहले वाले में हम लोगों ने देखा स्नेहमयी स्नेहदायिनी अभय प्रदात्री माँ के रूप में दूसरे में गुरु के रूप में हम देखते हैं ज्ञानदा मोक्षदा गुरु के रूप में अंत में देखते हैं हम शांति विधायनी मुक्तिदात्रे परमा प्रकृति भगवती के रूप में याद आ रही है मार्केंडे पुराण के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बहुत मीठा एक कहानी है इस कहानी के माध्यम से हमारा आपका सबक का इस जगत में त्रिताप से तापित ज्वालामय जीवन को यापन करते हुए जब कहीं भी शांति के कण भी नहीं दिखती है तब हमारा हालत क्या होता है साथ ही साथ ऐसे झंझामय जीवन में काली माँ आपलूत जीवन में उपाय क्या है निकलने का वह भी हम पाते हैं कहानी आगे बढ़ती है इसी कहानी के माध्यम से चंडी शुरू होता है देवी सप्तसती दुर्गा सप्तसती एक प्रजावत्सल राजा थे सूरत उनका नाम था शत्रुओं के आक्रमण से उनका पराजित होना राजमहल से निकाल देना साधारण प्रजाओं के साथ रहना सुंदर वर्णन आगे बढ़ता है उनका मन नहीं बैठता सुरम्य नगरी में मन नहीं बैठता एक दिन आखेट के बहाने शिकार करने के बहाने घोड़े के पीठ पर बैठकर वो गभीर अरण्य में चले जाते हैं मगर अरण्य में शांति के लिए जाते हैं कहा शांति अरण्य में भी अपने आमात्य मंडली के बारे में चिंतन अपने प्रजा के बारे में चिंता अपने ने पत्नी रानी के बारे में पुत्र पुत्रियों के बारे में चिंता करते करते उन्निद्र यामिनी यापन करते करते और अधीर हो गए कह रहे हैं कि अचिंतयत तदा तत्र ममत्वाकृष्ट मानस वहां उनकी चिंता और बढ़ गई व्याकुलता जब चरम में पहुंच गई अचानक एक दिन देखते हैं कि उन्हीं के समान एक और आदमी भटकता भटकता एक आगंतुक जंगल में भटक रहा है इनको बहुत आनंद हुआ चलो एक एक एक आदमी तो मिला मुझे दो चार बात तो मैं कह पाऊ कर, कर सकूंगा उसके साथ है? मगर काश वो सांत्वना स्वरूप आए हुए होते वो इनसे भी अधिक विचलित चित्त से आए थे कहते भाई कौन हो तुम क्या नाम तुम्हारा आगंतुक कहता है मैं एक धनाढ़ हूं मैं एक वैश्य हूं वणिक बहुत रुपए पैसे का मैं मालिक था मगर क्या कहूं दोस्त मेरे अपने जो थे अपनों ने मुझको दगा दे दिया जिनके लिए मैं सब कुछ करता था गालिब के आखिरी शायर जिनके लिए मरमर के जिए हम क्या पाया खलूस इनसे कुछ बदनामी कुछ रसवाई हमको मिली स्वागत के नाम तो ये समाधि नामक जो वैश्य था बिजनेसमैन ये कहते इतना पैसे मैंने इकट्ठे किया इतना किया मगर मेरे ही पत्नी मेरे ही बच्चे मेरे ही रिश्तेदार लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैं भी इस जंगल में शांति के लाया हूं राजा सूरत बोलते मित्र शांति मिली नहीं मिली क्यों क्योंकि मैं इतना दुर्बल चित्त हो चुका हूं कहते कि सशोक एवं कस्मात्व दुर्मना इव लक्ष्य से तुम इतने शोक में ग्रसित कौन हो तुम तब वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि दुख मेरा भी कम नहीं हुआ करो मैं कि यन्न सु अप्रीति निष्ठुरम मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मैं मेरा मन इतना निष्ठुर क्यों नहीं हो जा रहा है मेरे खुद के सगे संबंधी सगे भाई उन लोगों ने इस तरह से मुझको दगा दे दिया फिर भी उनके प्रति क्यों मैं ममत्व हूं दोनों में बातचीत होते होते होते होते आगे बढ़ते बढ़ते सौभाग्यवश और घने जंगल में जब प्रवेश करते हैं देखते हैं सुंदर रमणीय स्थान मेधा मुनि मेधस मुनि का आश्रम बहुत रमणीय शुभ्र शीर ऋषि सफेद रेशम कैसे दाढ़ी और सिर सौम्य भाव आगे कहते हैं कौन हो तुम लोग और इस घने जंगल में कहा भटक रहे हो दोनों अपना अपना परिचय देते हैं उनको प्रणाम करके है? कहते हैं जी मैं राजा हूं नृपति प्रजावत्सल राजा मगर मैं हृतराज्य हो गया शत्रु ने मुझको हरा दिया और वो कहता है कि मैं वित्तवान धनाढ़ वैश्य हूं समाधि मेरा नाम है मेरे खुद के अपनों ने मुझको खदेड़ दिया संपत्ति हर ली करुणा विगलित चित्त संपन्न ऋषि में धस दोनों को सांत्वना देते देते अपने कुटिया में ले जाते हैं आश्रम में उनको वो कहते हैं कि हे गुरुवर हे ऋषिराज एक बात ये समझ में नहीं आ रही है हम दोनों की कि दृष्टे दोषे अपि विषय ममत्व कृष्ट मानसो या अच्छी तरह से समझने के बावजूद जानने के बावजूद अनुभव करने के बावजूद कि विषय के प्रति ममत्व में सिर्फ दुख ही दुख है फिर भी हम लोगों का मन विषय से क्यों वापस नहीं आ पा रहा है ये क्या महामाया का खेल भगवान दोनों को बहुत प्यार देते हुए मेधस मुनि कहते हैं चार पंक्तियों में उसका सारांश कहते देखो वत्सगण मूलतः जीव मायाधीन है माया के अधीन है संसार के स्थिति कारणीय महामाया के प्रभाव से जीव बारंबार मोह गर्त में पतित होता है जीव बारंबार ममता आवर्त में निक्षिप्त होता है यहां तक कि महामाया का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि ज्ञानी अपनी ज्ञानी गण भी बलपूर्वक महामाया की तरफ खींचे चले जाते हैं तो तुम लोग तुम एक अति साधारण निरपति हो सकता है तुम प्रजावत्सल हो तुम एक साधारण वैश्य तो क्या तुम सोच रहे हो कि महामाया तुम पर अपना प्रभाव विस्तार नहीं करेगी मगर साथ ही साथ यह जितना सत्य है महामाया का प्रभाव जाल विस्तार महामाया खुद करती है और अपने ही सृष्टि के साथ खुद क्रीड़ा रती रहती है खेलती रहती है सृष्टि के साथ खेलती है यह भी जितना सत्य है साथ ही साथ दूसरा पक्ष यह भी सत्य है कि शैषा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवती मुक्त वही महामाया अगर प्रसन्ना हो जाए साधना करते हुए श्रद्धा पूर्वक उनका मनन स्मरण करते हुए अगर कोई जीव उनको प्रसन्न कर ले वो अगर प्रसन्न हो जाए मानो कि कह रहे हैं मे दस मुनि take it for granted that liberation is sure for that particular aspirant सैसाम वरदाम निड़ाम भवती मुक्त निड़ाम बहुवचन में कह रहे हैं कि एक मनुष्य नहीं दो मनुष्य नहीं मनुष्य गण जो कोई भी उनको प्रसन्न कर ले वही उनके महामाया के चंगुल से मुक्त होने में सक्षम होकर ही रहेगा इतना कहने के बाद में दस मुनि कहते हैं उन दोनों को उस महामाया के बारे में यत स्वभावा यत स्वरूपा यत उद्भवा कैसे उस अघटन घटन पटीयसी आद्या शक्ति महामाया का सृष्टि कैसे उनका स्वरूप और कैसे उनका स्वभाव पूरा विस्तार से दुर्गा सप्तशती का गायन हो गया मेदस मुनि दोनों को कहते हैं कि वत्सगण अब तुम तो अपने मन से दुख को छोड़ते हुए इस जंगल में उद्देश्य विहीन उद्भ्रांत दिग्भ्रांत पथिकों के माफिक बिना भटके हुए शांत भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा अंत करण से चित्त से उनका आराधना करो कहकर दस मुनि चले गए उनके आश्रम के कोने के प्रांगण में बैठकर दोनों बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं घटना आगे बढ़ती है आद्य शक्ति महामाया अघटन घटन पटियसी प्रसन्न होकर दर्शन देती है और कहती है बोलो क्या चाहिए क्या हम इतना कठोर साधन क्या हम मुझको पुकारा सूरत राजा कहते हैं हे देवी इतना अगर आप प्रसन्न हुई है तो मुझको उस शक्ति से उस बल से बलवान करिए <clears throat> ताकि मैं अपने राज्य में जाकर शत्रु को फिर से परास्त करके फिर तो राज्य का मैं उद्धार कर सकूं एवं अपने आमात्य मंडले व रिश्तेदारों के साथ परिवार वर्ग के साथ सुख चैन से मैं राज्य कर सकूं तथा चले गए और ऐसा ही हुआ छोटी सी सेना की टुकड़ी को सजाकर आघात हाँ, डालते हैं हार जाती है राजा ये खुद अपने राज्य पर आगे के वैभव से भी अधिक वैभव संपन्न चित्त को लेकर राज्य करते हैं माँ अघटन घटन पटी आद्य शक्ति महामाया तब उस वैश्य से पूछती है अब तुम बताओ वत्स तुम्हारा क्या मनोवांश सूरत राजा तो चले गए समाधि वैश्य कहता है माते आपका दर्शन जो मिल गया अब क्या चाहिए फिर भी आप जब कुछ देना चाह रही है तो इतना दे दीजिए कि फिर से आपके इस महामाया आपके इस रूप में मुझको फिर से पुनराए इस आवर्त में आना न पड़े माँ कहती है समसिद्ध तव ज्ञानम भविष्य ठीक है मुक्ति पद तुम्हारे कर फलायत है जब तुम चाहोगे जिस मुहूर्त चाहोगे उसी मुहूर्त मुक्ति संभव है तुम्हारे लिए मगर यह सूरत राजा और समाधि ये तो प्रतीक की एक चरित्र है all of us are other being represented either by king Surat और बाय दिस बिजनेसमैन समाधि वाह प्रतिनिधित्व मानो कि हम सबके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मगर उस दिन तो जंगल था उस दिन उनको मिल गया वो माहौल उस दिन वो जंगल में जाकर अपने उद्देश्य पूरे कर ली मगर आज हम आपको कहा मिलेगा कहा जंगल जाएंगे वैसे उपयुक्त माहौल तन्मात्रा से आपलूत माहौल पाना जितना कठिन है उससे भी कठिन है आज के जमाने में अघटन घटन पटी आद्य शक्ति महामाया के कराल चेहरे का दर्शन करना जिस रूप में उन्होंने चंड मुंड का हत्या की जिस रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया वो तो हम सहज सह नहीं पाएंगे इसलिए युगों तक सही मायने के जो भक्तगण थे भक्तगण के मन की आपलूत थी मन की आकुति थी व्यथा थी मांग था डिमांड था कि हे जगत जननी हे आद्य शक्ति उस रूप को त्यागते हुए तुम हमारे घर के अपने गर्भधारिणी माँ से भी अगर निकट हो सके क्यों उस रूप में तुम धराधाम में आओ पूंजीभूत युगों से पूंजीभूत उस प्रार्थना से आखिरकार ईश्वर मुलायम हो गए उसी दिन की तो बात है जयराम के पास सिहर नामक गांव में श्यामा सुंदरी देवी एक संध्या के समय शौच करने निकली हालदार पुकुर के किनारे बड़े तालाब के किनारे और एक बेल के वृक्ष के नीचे से मां काली एक बालिका का रूप धारण करके श्यामा सुंदरी देवी के पीछे से आकर गले को जकड़ कर पकड़ कर कहती है मां तेरे घर में जो मैं आऊंगी यही अघटन घटन पटी आद्या शक्ति महामाया उस दिन आ गई और जिनको हम बहुत प्यार से माँ बोल के पुकारते हैं 22 दिसंबर सन अठारह त्रिपलेश्वी उस दिन तो माँ के जीवन से अब तक हम लोग उनके फूलों के वाटिका से चिन्हित बहुत पुष्पों का चयन पूर्ववर्ती तीनों के तीनों वक्ताओं ने किया आयोसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मनन प्रक्रिया को जारी रखें माँ का दिन एक डेढ़ साल महासमाधि के लिए बाकी था उद्बोधन में किसी को भी मां का दर्शन करने का अनुमति नहीं दी जा रही थी दीक्षा का तो सवाल ही नहीं अचानक बंबई से एक युवक आता है युवा जन इज टीन्स उन्नीस या लेट टीन्स युवक लंबा चौड़ा गोड़ा चिट्टा ये घटना जब हुई थी हमारे परम श्रद्धे दसम प्रेसिडेंट महाराज वीरेश्वरानंद जी को भी राजा महाराज ने भेजा था माँ के यहाँ कुछ अतिरिक्त ब्रह्मचारियों की जरूरत थी थे नीचे शारदानंद जी के कमरे के बाहर वे खड़े हैं तो उन्होंने उस आगंतुक को कह दिया कि नहीं अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है ब्रह्मचारी महाराज ने प्रभु महाराज ने कह दिया नो क्वेश्चन एट ऑल उनसे दीक्षा उनका दर्शन संभव ही नहीं कहने लगा but all the way from Bombay I have come here करके जहां से भी आओ तुम सवाल ही नहीं उठता शारदानंद जी के कमरे के नीचे वहां पर चटाई बिछी हुई थी वह युवक वहां पर बैठ जाता है अल्थी पालती मारकर बोलता है यहां पर मैं बैठा उनका दर्शन स्पर्शन कथन सब करके मैं जाऊंगा प्रभु महाराज हंसते हैं क्या तुम बोल रहे हो शारदानंद जी ने कुछ मूड़ी और मोआ बोलते हैं बंगाल में मूड़ी को गुड़ में के पाक में करके बड़ा बड़ा लड्डू बना के दो चार मोआ दिया मैं खाने के लिए नहीं आया हूं अचानक ब्रह्मचारी गणेन्द्र ऊपर से उतरता है माँ दो मंजिले में थी माँ कहते के जाओ बाबा नीचे एक जोन जुबो कैसे चेता क्या मर का चिन्नी है सो जाओ बेटा नीचे एक युवक आया हुआ उसको मेरे पास ले आओ काफी लोग थे ब्रह्मचारी गणेन्द्र पहचान नहीं पाता कौन आया है बगला में कहता है कि आप लोगों में से कौन है जो बाहर से आया है He was not supposed to understand Bengali for the first time in his life. He was coming across with this खड़ा हो जाता है वो युवक कहता है यहाँ इट्स मी कहता माँ बुला रही है शारदानंद जी की तरफ सब लोग देख रहे हैं अरे शारदानंद जी अब तो कुछ तो बोलिए शारदानंद जी कहते हैं माँ की अगर एक इच्छा हुई हो कि एक पारसी संतान को दीक्षा देगी तो हम भला क्या कर सकते हैं ऊपर गए माँ के कमरे में और भी कई लोग थे माँ ने कहा तुम लोग बाहर जाओ उसको बातचीत हुई दीक्षा दिया कुछ खाते खाते निकल आया उछल उछल के निकल रहा है देख रहे प्रभु महाराज कहते थे कि दो दो सीढ़ी तीन तीन सीढ़ी एक साथ छलांग लगाते लगाते उछल रहा है गाना गाते गाते उछल रहा है शारदानंद जी देखकर उसके चेहरे का रौनक चेहरे का औज्जल्य चेहरे का प्रकाश देखकर सब लोग बहुत चंगे हुए जी मेरा हो गया ये और कोई नहीं था सौरभ मोदी जो उत्तर काल में फिल्म इंडस्ट्री का न सिर्फ एक अभिनेता डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ तक कि मॉडर्न जो बॉलीवुड बॉलीवुड का father it was he only who dreamt of making this entire city converting entire city as a film city तिहत्तर साल में उन्नीस में बम्बई रामकृष्ण मिशन आश्रम में वो भर्ती होते हैं जब भी वो कभी चिकित्सा के लिए होते थे अपने रामकृष्ण मिशन आश्रम में ही आते थे आश्रम में उन दिनों भी इतना हाई फाई कुछ नहीं था निरामयानंद जी बम्बई आश्रम के महंत हुआ करते थे उन दिन तो आंख में ऑपरेशन होगा वहां पर भी तब क्या कन्वेंशनल मेथड में आंख का ऑपरेशन हुआ करता था नानावती हॉस्पिटल से डॉक्टर क्रायोकैन वगैरह लेकर आए माइक्रो सर्जरी करने के लिए तब ये गए जाके उनसे पूछते हैं कि तुम भाई easily could have facility of any other hospital repeatedly why do you come to Ramakrishna Mission hospital जब हमारे सीमित यहाँ पर कुछ है कुछ है ही नहीं कहते नहीं यहाँ पर मैं इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर माँ को देख पाता हूँ और यही सीट में चॉइस करता हूँ सीधे माँ को देखता हूँ तब वे कहते हैं कि माँ से दीक्षा हुई थी मैं तो दीक्षा के बारे में कुछ जानता ही नहीं था बम्बई में अचानक मैंने सुना मेरे फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स थी बिजनेसमैन हमारे फैमिली थी मैंने जब मेरे माता पिता को सबको कहा बहुत स्ट्रांग अपोजिशन हुआ कि नहीं फिल्म लाइन में तो हो ही नहीं सकता अचानक एक पार्क में मैं सुन रहा हूँ कि विवेकानंद कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं वो लोग बोले विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमंश की पत्नी जिसको ये लोग होली मदर कहते हैं वे अभी भी बंगाल में है बस लिविंग स्पिरिचुअलिटी एक बार just over heard Saurabh Modi सुनने के पश्चात कौन है क्या है बस विवेकानंद के गुरु कोई हरा गहरा नक्ष वगैरह नहीं हो सकता है विवेकानंद के गुरु की पत्नी सामान्य रमणे नहीं हो सकती है जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने बहुत सुंदरता के साथ कहा कि वो कंडे पादने वाली नहीं है शरद महाराज कर रहे बस मैंने उनसे इतना कहा कि हे माँ मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ फिल्म लाइन में मैं कुछ बनना चाहता हूँ माने भाषा कोई हमारे और माँ के बीच में कोई विडम्बना नहीं हुई थी मैं अंग्रेजी में फर्राटे के साथ अंग्रेजी में बोलता गया और माँ पता नहीं क्या समझी माँ भी ठेठ बंगला में कहती गई मैं भी समझता रहा माँ भी समझती गई माँ ने कहा कि हाँ बेटा वो तो होगा मगर तुम इतने दूर से आई हो मंत्र नहीं लोगी क्या मंत्र माँ ने कहा बैठ जाओ यहाँ पर बल्कि माँ ने एक मंत्र दिया तीन बार उच्चारण करवाया मैं इतना छोटा था उस समय क्या साधन क्या भजन क्या जप क्या ध्यान क्या मंत्र कुछ पता नहीं मैं तो इसलिए खुशी कि मैं अपने आप में समा नहीं पा रहा था कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि तू कुछ भी तो बनेगा फिल्म इंडस्ट्री में तेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा दूसरी घटना ये राजा सूरत के प्रतिनिधि आज भी समाज में है राजा सूरत ने जो मांगा आज हम लोग को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है हमारे आपके घर में ही माँ है एक छोटे से बच्चे बहुत गरीब परिवार के कृषक परिवार के वे अपने दादाजी के साथ बंबई एक पार्क में आते थे शिव जी के मंदिर में वहां शिवानंद जी महाराज उन दिन बम्बई में गए हुए थे और बम्बई में ठाकुर के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे तक पार्क में वो भी बम्बई आश्रम से बहुत दूर नहीं है अभी भी वो पार्क है महाराज जी लोग जानते हैं वहां पर जा चुके हैं वहां पर रोज संध्या को सत्संग शिवानंद जी करते थे और पंद्रह बीस लोग हो ही जाते थे कभी कभी ज्यादा भी हो जाते थे तो छोटा बच्चा अपने दादाजी के हाथ पकड़ कर जाता था और वो वहां पर एक दिन माँ के बारे में होली मदर के बारे में कह रही है कह रहे हैं तो सुनते हैं वो छोटा बच्चा सोचता अच्छा इनके पास से कुछ भी मांगा जाए दे सकती है तो ठीक है मैं भी मांगता हूं एकेडमिक लाइन में शिक्षा जगत में मुझको एक कुछ होना है इतने गरीब किसान फैमिली के क्या पढ़ेंगे छठे सातवें तक पढ़ाने के बाद उसको घर में किसी ने दसवीं क्लास देखी ही नहीं मगर ये मन ही मन कहता गया रोज आता था और आकर अक्सर कहता था उनको क्या आज तो आपने अपने माँ के बारे में कुछ नहीं बोला शिवानंद जी से वो बस माँ के बारे में सुनता रहता था काल्पनिक माँ का चित्र अपने मन में मानस वेदिका में उन्होंने खींच ली थी और सपने में भी एक वो देखते रहते थे दिल प्रोविडेंस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी से फिलोसॉफी में बहुत पढ़ने के पश्चात अचानक लेक्चरशिप मिल गई उनको ढाका यूनिवर्सिटी में कहा बम्बई कहा ढाका यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनते बनते जब वो प्रेसिडेंट व वाइस चांसलर बन गए कुलपति दूसरे नॉन ब्रिटिशर कुलपति बने स्वामी कालिकात्मानंद जी वहां के महंत एक फंक्शन में कुलपति को बुलाया आश्रम में आश्रम में आके देख रहे ठाकुर के बगल में एक चित्र ग्यारह साल तक उनको पता ही नहीं था तब तक वो ढाका यूनिवर्सिटी में ग्यारह साल ये थे Junnerkar professor doctor B B Junnerkar तो अब आकर देखते कि ये यहां पर है इनको तो कब से मैं सपने में देखता रहता था रोते हैं रोते हैं रोते हैं खुशी से लोटपोट करते हैं देखे नहीं कि मैं जूता पहना ये पहना एकदम मंदिर में जाकर लोट पोट बा मा मा ये तो गया दो इधर की घटना समय भी समाप्त अब इधर आता हूं घटनाओं के अभाव नहीं है वहां के जीवनी में ऐसे असंख्य मोती बिखरे हुए हैं राधा समाधि कलकत्ता में मानिक तला में 1908 दो मई मानिक तला में बम विस्फोट हुआ तीन लोगों को पकड़ा गया उसमें श्री अरविंद घोष पकड़ में आए अरविंद घोष को अलीपुर जेल में डाल दिया गया फांसी अनिवार्य उनकी पत्नी मृणालिनी देवी स्वाभाविक पागल की ऐसे हो गई उन्होंने भी मन ही मन ठान लिया कि मुझको भी आत्महत्या कर लेना ही पड़ेगा नहीं तो ऐसे पति विहीन जीवन यापन करने से क्या फायदा उनके साथ परिचय था सुधीरा देवी की सुधीरा देवी के बड़े भाई बहुत बड़े ये भी अनार्किस्ट थे देवव्रत बसु बाद में उन्होंने संन्यास लिया प्रज्ञानंद जी वे मृणालिनी देवी को माँ के पास ले आती है माँ सब कुछ सुनती है गंभीर हो जाती है थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बहू उनको बेटी बोलकर संबोधन नहीं करती माँ बहू तुम निश्चिंत रहो मेरा बेटा मुक्त होकर चला आएगा निर्दोष साबित होकर चला आएगा सुधीरा देवी कान में जाकर कहते हैं कि मां निर्दोष नहीं हो सकते वो वो भी थे मानिक तला बम विस्फोट में भी ये वॉज द लीडर उनके नेतृत्व में हुआ मां कहती वो चाहे जो कुछ भी हो इस बार वो निर्दोष साबित होकर निकल जाएगा निकल आएगा यह खबर 11 दिन बाद जाकर देती है मृणालिनी देवी श्री अरविंद घोष को जेल में अलीपुर जेल में अरविंद घोष भी कथा संभव हो ही नहीं सकता कथने माँ ने बोला है रोज जाती थी माँ के बारे में अरविंद घोष देखती थी मेरी पत्नी का वो विरह ज्वाला नहीं है अचानक एक दिन खबर निकलता है कि अरविंद घोष मुक्त कर दिया जाए तो अलौकिक अघटन घटन पटी स्याद्या शक्ति महामाया की कृपा से जेल से ही सीधे एकदम अपनी पत्नी को लेकर एकदम सीधे वो चले आते हैं मां ने बस उनको कहा था कि तुम ठाकुर के बारे में पत्नी को कहा था ठाकुर के बारे में पढ़ते रहना वचनामृत और कहा कि जेल में मेरे बेटे को भी ये ठाकुर के बारे में पढ़ने के लिए देना एक वचनामृत का एक वॉल्यूम जेल में उनके पास और एक वॉल्यूम इनके रोज पढ़ा करते थे जब ये मुक्त हो गए सीधे अलीपुर जेल से ये लोग आ गए माँ के पास माँ के पास खबर आ गई कि माँ लोग आ गए तुम्हारे बात सत्य प्रमाणित हो गई है वहां गया माँ मिलने आ रहा आपसे तो बाहर गौरी माँ उपस्थित थी अरविंद घोष यू ही दुबले पतले और जेल में और भी दुबले पतले हो गए गौरी माँ उनके ठुड्डी पर जो दाढ़िया निकली थी ठुड्डी के दाढ़ियों को पकड़ कर प्यार करते हुए और गौरी माँ कहती है जो जतोच्च तब हृदय तो तो दुख जानियो निश्चय हृदयवान निस्वार्थ प्रेमिक ए जगोते नहीं तब तो स्थान स्वामी विवेकानंद के सखापति नमक नामक कविता में कहते हैं कि जितना भी उच्च तुम्हारा हृदय होगा उतना दुख में तुम डूबे रहोगे दुख में आप्लूत रहोगे ये बात शर्तिया है हृदयवान निस्वार्थ प्रेमिक मगर हे निस्वार्थ हे हृदयवत्ता संपन्न प्रेमिक मनुष्य को मनुष्य से प्यार करने वाले प्रेमिक ये जगते ना ही तब तो स्थान इस जगत में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है जान के रखना किंतु भय की बाबा मायर कोल अच्छी इस जगत में तुम्हारा स्थान भले ही न हो मगर माँ का आंचल जो है तुम्हारे लिए जाओ जाओ जल्दी जाओ माँ के पास तुमसे कहीं ज्यादा उतावली होकर माँ बैठी है तुमको दर्शन देने के लिए तुम दर्शन करने क्या आई हो दर्शन करने बेटी तुम दर्शन करने इनको क्या लाई हो माँ दर्शन देने के लिए बैठे सहसाम वरदाम निराम भवती मुक्त है माँ देख कर कहती है ओ बाबा এতটুকু ছেলেকে দেখে ইংরেজ মুলুকের এত ভয় कहते अरे मेरा इतना छोटा सा पिद्दा सा बेटा उसको देखकर अंग्रेजों का इतना डर जाके थोड़ी देर अरविंद घोष कहते हैं ये Shri Aurobindo an episode of his life biography Arvind Ghosh सारे तीन पन्ने इसमें कुछ कार्पण्य नहीं कर रहे कृपणता माइजरी नहीं कर रहे माँ के साथ डायलॉग्स क्या क्या माने कहा और उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट किस तरह सहसाम वरदाम निणाम भवती मुक्त है अघटन घटन पटी आद्य शक्ति महामाया माँ कहती है बाबा खूब है एरपर आध्यात्मिकताय डूब दो देखी माँ कह रहे कि बेटा बहुत हो गया अब डुबकी लगाओ आध्यात्मिकता में डुबकी लगाओ आज ही निकल जाओ सीधे उसी दिन रात को निकल गए चंदन नगर क्योंकि वो फरास डांगा था फरासियों का था वहां पर अंग्रेज लोग आ नहीं सकते थे बस उसके बाद पौंडेचेरी में चले गए वो जो गए तो एक एक ऐसी श्रेणी है जो कि समाधि का नेतृत्व दो चार घटनाएं तो कहता रहूंगा रात समाप्त हो जाएगा क्योंकि मुझे वो सौभाग्य मिला था जब 74 में मैं जयराम भट्टी ज्वाइन किया माँ के शिष्य बहुत सारे थे बहुत सारे माँ के शिष्य तो बहुत घटनाएं रात व्यतीत हो जाएगी आप लोग भी स्टैचू के ऐसे बैठे रहेंगे एक घटना करके मैं समाप्त करूंगा माँ कैसे कृपा करती अठहत्तर साल में पल्ली मंगल प्रोग्राम में दसम प्रेसिडेंट महाराज करने लगे बंगाल में जितने भी गांव केंद्रित आश्रम है वहां वहां जाकर कुछ कुछ रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे तो वर्तमान प्रेसिडेंट महाराज वर्तमान प्रेसिडेंट महाराज के सेवक तापस महाराज ट्रस्टी लखनऊ के महंत महाराज सुजीत महाराज जयरम्बटी से होकर गए थे तो मैं दसम प्रेसिडेंट महाराज के साथ हम लोग गढ़वेता नामक एक बिंदापुर में जगह है गढ़वेता गए गर्मी का मौसम पतझर तो मेन गेट से मंदिर तक आने में काफी रास्ता है चौड़ा रास्ता उधर दोनों तरफ वीपिंग देवदारू पेड़ है और अंदर वहां पर लोड शेडिंग बहुत हुआ करता था करंट नहीं आश्रम में जनरेटर नहीं बहुत गर्मी बहुत गर्मी तो रात में खाना खाने के बाद प्रेसिडेंट महाराज घूमते थे और हम सब लोग उनके साथ साथ घूमते थे पांच सात दस बीस चक्कर मारने के बाद चले आते थे तब विपिन देवदारों के पेड़ से सब सूखे देवदार के पत्ते गिरे रहते थे और दूसरा दिन मंगल आरती के बाद फिर वो घूमते थे फिर हम लोग हम मतलब मैं ब्रह्मचारी था छोटे छोटे हम लोग सब तब लोग भी उनके साथ हुआ करते थे फिर घूमते रहते थे तो वहां के श्यामापद महाराज महंत थे श्यामापद महाराज को एक दिन चाय पीते पीते बोल रहे अरे श्यामापद तुम्हारा स्वीपर कौन है इतना सिंसियर स्वीपर बेलूर मठ में नहीं मिलता जी क्या हुँ? क्या महाराज क्या हो गया अरे इतना सुबह मंगल आरती के पहले ही झाड़ू दे देता है वो रात में जब हम लोग देखते हैं पत्ते भरे रहते हैं मगर सुबह महाराज अब स्वीपर को देखना चाहते हैं ठीक है तो मैं स्वीपर को बुला लाऊंगा अरे तुम बोलो ना तुम नाटक करने का क्या स्वीपर को बुलाने का नहीं महाराज आप स्वीपर से सुनेंगे साढ़े दस बजे एक बिहारी कुली आता है कुली नजदीक में रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन से एक घुटने तक धोती पहना हुआ लाल शर्ट पहना हुआ पीतल का बैज लगाया हुआ बिहारी कुली आ गया कांपते कांपते महाराज को साष्टांग प्रणाम कर रहा है श्यामापद महाराज बोल रहे कि बोलो तुम क्या झाड़ू देते हो यहाँ पर इतना सुबह आके गोकुली बोलता है हाथ जोड़ कर करके कंपित कलेवर कांप रहा है महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बोल रहा है मैं अभी उस घटना को अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते मेरे कहते महाराज वो बहुत दिन आगे की बात है एक दिन यहाँ पर स्ट्राइक रिक्शा वालों ने स्ट्राइक बुलाई थी कलकत्ते से कुछ भक्त लोग आए थे उनका सामान यहाँ तक लाना संभव नहीं था तो मैं बोलने लगा ठीक है मैं ही आश्रम में ले जाता हूँ उस दिन पहले बार मैं आश्रम के फाटक के अंदर आया मुझे पता था ये बंगालियों का कुछ आश्रम है साधु बाबा लोग रहते हैं मगर उस समय यहाँ पर माँ के बारे में कुछ कथा चल रही थी तो मुझको एक महाराज ने कहा अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो खाना खा के जाना बारह बजे खिचड़ी मिलेगी मैं भी सोचना शुरू कर दिया कि अब तो कोई ट्रेन है नहीं तो बारह बजे ठीक है यही खिचड़ी खा लूंगा मैं भी बैठ गया तब मैं सुनता हूँ वो घटना वो महाराज कह रहे थे कि माँ जो राधा वही सीता सीता के रूप में विष्णुपुर में दर्शन दिया वो घटना का विस्तार चल रहा था तो मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे बिरादरी वाले एक बिहारी कुली वो रेलवे स्टेशन में माँ को देखकर चिल्लाता है कहता कह रहे मेरे जान की मैया तू अब तक कहाँ थी तुझको न जाने कहाँ कहाँ मैं ढूंढता फिर रहा हूँ बल्कि माँ उसको लेकर एक खाली डिब्बे के अंदर मालगाड़ी के खाली डिब्बा बगल में खड़ा उसके अंदर जाकर दीक्षा देते मैं कह अच्छा खिचड़ी विचड़ी खाया हुआ है नहीं बस इतना सुना इतना सुनने के बाद ही मैं वहां से रवाना हो गया एक डेढ़ बजे वाली ट्रेन पकड़कर मैं बिष्णुपुर चला गया गड़बेता पियाल गोदा पियाल साड़ उसके बाद ही बिष्णुपुर एक रेलवे स्टेशन बिष्णुपुर जाके मैंने वहां दूसरे कुलियों से पूछा करने कहा हाँ भाई यहाँ पर है यहाँ पर देखो तो मैंने वहां पर सब पुलियों को ऑर्गेनाइज किया सबको कहा अरे भाई यहाँ पर हमारे जान के मैया आई थी और हाँ, इतना गंदा जगह है पान का पीक वीक बकरी वकरी चल रहे है हम लोगों ने साफ वाफ किया उसके बाद से कौन आपकी शारदा है कौन है ये सब हमें पता नहीं मगर इतना पता है कि यहाँ पर मेरे जान की मैया का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं मैं तो और कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं तो गरीब हूँ मैं आके रोज सुबह झाड़ू देकर चला जाता हूँ कि ताकि जान के मैया के दर्शन करने वालों को जरा साफ सुथरा प्रांगण मिल जाए दसम प्रेसिडेंट महाराज कहने लगा रहे इसको तुम क्या देते हो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए बस ये तो मौका आप देते रहिए जब रिटायर्ड हो गया और काम नहीं कर पा रहा था बुढ़ा वहीं पर महाराज के कहने से गेट के पास एक मकान कर दिया गया महाराज ने उस, उनको दीक्षा दी उसी समय दीक्षा शेड्यूल में नहीं था ग्यारह लोगों की दीक्षा हुई चुने हुए कुछ उसमें और उसको सीता देवी का मंत्र मिला वहीं पर जब वो मर गया सब साधु लोग उसको जैसे साधुओं का जलाया जाता है वैसे उन्होंने किया तो ये माँ किस पर कैसे कृपा कर जाए अमेरिका में बहुत मजेदार घटना ये शारदा मठ से जो अंग्रेजी निकलती है संवित उसमें निकली थी अमेरिका में एक माँ और बेटे का संसार है परिवार है बेटे ने अपने जीवन में अपने पिता को नहीं देखा बचपने में इसके पिता छोड़कर चले गए थे तो माँ बहुत कष्ट के साथ बेटे को लालती है पालती है बेटा जब बड़ा होता है अब माँ कहती है कि देखो अब मैं एक चर्च में जाना चाहती हूँ तो ये तुम तो अपने काम कर, कर ही लेते हो तो इस अपने फ्लैट को बेचकर ये पैसा वन टाइम पैसा मैं चर्च में दे देती हूँ और उसके बाद मैं चर्च में चले जाती हूँ तो ठीक है तुम्हारा कुछ आपत्ति करेगा आपत्ति कहे तुम तुम चाहो तुम दो मगर बीच बीच में फोन आता है बेटे के पास कि बेटा इतना रुपए तुम उसको दे पाओगे हाँ ठीक है दे दूंगा और एक महीना दो महीना छह महीने के अंदर बेटा जाकर रुपए दे देता चर्च में माँ के पास कभी कभी एक साल हो जाता है डेढ़ साल दो साल बाद जाके वो रुपए देता है मगर रुपए दे देता है माँ दोबारा खबरदारी नहीं करती रिमाइंडर नहीं देती कि बेटा क्या अभी तक रुपए नहीं दिया बेटा क्या करता है कार लिफ्टर है कार चोरी करता है माँ जब कहती है कि बेटा इतने हजार डॉलर दे दे इतने सौ डॉलर दे दे तो उस हिसाब से बेटा कार चोरी करता है कार चोरी करके वो पैसा जाके माँ को दे आता है तो इसमें जेल में बहुत बार पकड़ में भी आ गया कभी दो महीना छह महीना आठ महीना तो जेल भी उसका हो गया तो इस तरह से फिर से एक बार पकड़ में आ गया तो वो लोग जेल नहीं बोलते हैं रिफॉर्मेटरी तो रिफॉर्मेटरी में तो छोटी सी लाइब्रेरी थी सब किताबों पढ़ चुका है फिर से पकड़ में आ गया अब जाकर वो लाइब्रेरी में जाके बोलने लगा मुझे क्या किताब अब लाइब्रेरियन थर्राना शुरू कर दिया सब किताब वो पढ़ चुका था अगर वो कंप्लेन कर दे तुरंत गाड़ी लेता है जाकर एक नजदीक कहीं से किताब खरीद के लेकर चला आता है पढ़ने को ले देता है वो दिन में काम करता है रात भर पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है तो पढ़ते पढ़ते क्या किताब है पता नहीं मगर पहले पन्ने में एक फोटो थी फोटो को फाड़ लिया फाड़ के फाड़ के रिटर्न कर दिया और अपने तकिया के नीचे रख दिया उस फोटो को वो short biography of Holy Mother उसको पढ़ा उस फोटो को देखते देखते देखते देखते 2004 के संविद पत्रिका में आप देखिएगा इसका डिटेल्स में है कुछ दिन बाद ही उसको छुट्टी मिल गई अब उसने वहां से तीन चार जितने भी किताबें थी पता लेके वो न्यूयॉर्क शहर था न्यूयॉर्क में जहां हमारे तथागतानंद जी का आश्रम है तो वहां रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी न्यूयॉर्क में दो आश्रम है एक में आदिश्वरानंद जी रहते थे एक में तथागत आनंद जी तो तथागतानंद जी के आश्रम में वो जाकर कहता है कि माँ बेल्ट दबाता है आनंद जी उन दिनों भारत में थे एक सीनियर सिटीजन ओल्ड लेडी तदारकी करती थी तो उसने खोला खोल के देखता है कि मैं जेल से हूँ जेल वो तो चौक जाती है नहीं नहीं मैं भाग के नहीं आया हूँ ये देखो liberation certificate is there with me मैं all that I am having with me ten dollars jail से निकलने के साथ दस डॉलर उसको मिला था I want to book some few more I want to purchase few more books on Holy Mother but problem is with me is that only I am having ten dollars but how come across with this name तब वो सब कुछ करते कहते तुम चोरी करते तो जेल में जी हाँ क्यों तो वो कहता है कि मेरी माँ मुझसे रुपए मांगती है तो मैं माँ को रुपए देता हूँ इसके अलावा मैं कभी कारपेंटरी का काम करता हूँ कभी चिमनी साफ करता हूँ कभी ड्राइविंग का काम कर लेता हूँ उतने पैसे मेरे पास होता नहीं है जिससे कि मैं माँ को दे सकूँ मगर मतलब माँ क्यों मांगती है वो तो मैंने कभी पूछा नहीं वो ओल्ड लेडी तुरंत माँ को फोन करती है उसके माँ को चर्च में करते है कि तुम अपने बेटे से रुपए क्यों मांगती हो मैं वो मेरा बेटा है मैं मांगती हूँ रुपए क्या करती हो वो बहुत पैथेटिक है इसको कहते हैं कि बहन दैट्स टू पैथेटिक क्यों what is that pathetic episode कहते हैं अब यहाँ पर फादर लोग इंडिया के क्लिपिंग्स दिखाते और जब जब इंडिया के क्लिपिंग्स में देखती हूँ लोग खा नहीं पाते हैं कचरा डब्बा से आम के गुटलियों को लेकर चूसते रहते हैं मुझसे रहा नहीं जाता है मैं कुछ रुपए भेजना चाहती हूँ तब तब मैं मेरे बेटे को फोन करती हूँ कि बेटा मुझको कुछ रुपए दे दे जब मेरा बेटा जमा कर कुछ रुपए देता है तो वो रुपए मैं फादर को दे देती हूँ कि जाओ ये भारत में तुम तो बच्चों के लिए कुछ करो क्योंकि मेरा भी माँ का हृदय है being a possessor of mother's heart, I can't withstand that sort of grief, sufferings India के बच्चे लोगों को जो आता है तब तो सुनने के बाद वो कहते कि पता है तुम्हारा बेटा कैसे करके रुपए देता है तुम्हें कैसे करके वो कार चोरी करके कहते वो that is not my lookout वो क्या करके रुपए दे, देगा वो मैं नहीं चाहता तो मुझको बोल दे कि मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा मैं रुपए मांगता हूँ रुपए देता कैसे भी दे मेरा बेटा कैसे भी दे मगर ये लास्ट पेनी तक उसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ पूरा के पूरा भारतवर्ष में जाती है तब वो मदर कहती है उनसे ठीक है जितना भी तुम्हें चाहिए तुम किताब ले जाओ but you have to assure me that now again you are not going to the jail again वो कहता है कि never mind for that sister Holy Mother won't allow me to do any such work owing which I would find myself again in the jail. एक घटना बोल के जब आप लोग बार-बार सुन रहे समाप्त कर रहा हूं ये सब अभी की घटना आ रही अभी भी कुछ दिन पहले की घटना अर्थात 85 की घटना मैं आपको बता रहा हूं सूरत गुजरात में सूरत के अंदर एक इंटीरियर विलेज था सूरत में वहां पर दो भाई लोग थे तो दोनों के दोनों भाई बाहर चले गए एक भाई बड़ा भाई अमेरिका में डायमंड कटर पॉलिशर हो गया छोटा भाई साउथ अफ्रीका में क्यूरी में डायमंड क्यूरी में है उनकी वृद्धा माँ हर साल वे लोग आते हैं माँ को देखते हैं माँ का सेवा करते हैं अचानक खबर आई उनके चाचा ने कहा कि mother is on dead bed तो छोटा भाई के लिए आना संभव नहीं बड़ा भाई तुरंत आया सिंगापुर माँ के कहता है कि कैसे उनके चाचा कहते हैं she is gone no more कहता ठीक है उनको तुम रखो क्रमेशन वहां मत करो मैं आ रहा हूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट से एयर बस लेकर अहमदाबाद अहमदाबाद से कार लेकर गांव सूरत गांव वहां जाकर माँ के कॉप्स को लेना अहमदाबाद आना एयर बस में एयर टैक्सी में बनारस ले जाना बनारस से मणिकर्णिका घाट लाना का घाट में दाह हो रहा है अब वहां पर देख रहे कि इतना गंदा इतना मैला कीचड़ यहाँ पर ये आदमी का हड्डी सब गंगा जी में फेंका जा रहा है कोयला इतना मेला मन ही मन सोच रहा है कि नहीं इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा सोचते सोचते जब हो गया तो पंडा से पूछता है पुजारी जो पंडा जिसने करवाया तो उससे पूछता है कि भाई मैं कुछ इस घाट का मरम्मत वगैरह करवाना चाहता हूँ किसके लिए किसके साथ कहते हम लोग तो नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पर तुम यहाँ पर एमएलए जो है एमएलए से बात करो तो एमएलए से बात करके उसके अगले दिन बाद वाले दिन उसके जो रिश्तेदार लोग आए थे एयरबस से चले गए वो अकेला रह जाते हैं वहां पर छबिल भाई देसाई उनका नाम तो छबिल भाई वहां पर रह जाते हैं एमएलए एमएलए कहते हैं भैया तो मेरे तो जुरिस्डिक्शन में नहीं है ये गंगा एक्शन प्लान वालों के पास जाओ कहा इनका ऑफिस सारनाथ में इनका हेड ऑफिस है वहां जाओ सारनाथ में गए सारनाथ वो जगह गंगा एक्शन प्लान वाले कहते भाई ये शमशान घाट वाट में हम लोग के एजेंडा में नहीं आता हम लोग बस प्योरिफिकेशन सिवरेज और लाइटिंग करते हैं तो ये किसके पास जाए डीएम के पास जाओ तो डीएम के पास जाते हैं डीएम अपॉइंटमेंट लेकर डीएम ये करता है ये मेरे बस के बात नहीं है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट पे तुम जाओ तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाता है करेगा ये हम लोग के बस का नहीं तुम टूरिज्म मिनिस्टर के पास जाओ लखनऊ में जाओ तुम वो लखनऊ में जाते हैं टूरिज्म मिनिस्टर के से मिलते हैं वो मुस्लिम थे वो कहने लगे हम लोग ऐसे पब्लिक से पैसे लेके नहीं करते हम लोग नहीं करेंगे तुम चले जाओ बहुत दुखी होते हैं कहते हैं कि ये ये भारतवर्ष मैं इतना करना चाहता हूं इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है फिर अपने गांव में वापस जाकर सोचते हैं कहते ये क्या हो गया मैं माँ के लिए करना चाहता था इतने उदास हो गए इतने उदास हो गए कि उसी रात को एक सपने में एक ठेठ काठियावाड़ी भाषा में एक महिला बात कर रही है अरे तू बेवकूफ इतना तो चिंता क्यों कर रही है बल्कि एक जगह का नाम लेती है काठियावाड़ी भाषा में कहते है कि तू वहां पर आ दिखाते है कि ये नदी इसके किनारे इसको तू कर यही कलियुग का यही मणिकर्णी का घाट होने वाला है यहां पर तू आ एकदम टूट गई अरे कौन कहा अरे क्या कौन सा नाम सुना सब भूल गए अगले दिन अपने मित्र के पास जाते हैं वो भी देहात में रहने वाला उनके पास जाकर कहते हैं वो रुई का कारोबार उसका कहते भाई मैंने ऐसा सपना देखा अब कौन है कहा मुझको कहा करने के लिए कहा मुझे तो कुछ याद भी नहीं है वो तुम तुम लोग बताओ इतने दिन तो हो गए मुझको इसको छोड़े हुए गुजरात को तो ऐसा क्या नाम है ऐसा नदी छोटी सी नदी क्या नाम जंगल वंगल जरा सा छोटा मोटा मैं हमको नहीं पता तू तो एक काम कर आज मैं राजकोट जा रहा हूँ और राजकोट में वहां पर महंत महाराज के साथ मेरा बहुत जान पहचान है व्योमानंद जी अब लोगों में से कोई कोई जानते होंगे महाराज सब लोग जानते हैं वोमानंद जी उन दिनों राजकोट के महंत हुआ करते थे तो उनको फोन कर दिया अगले दिन वोमानंद जी के पास आ गए वोमानंद जी के ऑफिस में आने के साथ ही साथ खड़ी कुर्सी के पीछे एक माँ का खड़ा हुआ वो पोज में चित्र देख के वो चिल्ला उठ कर गए यही तो है इन्होंने तो मुझको बोला अरे ये कैसे हो सकते है तो बंगाल की है ये बंगाली ने तू बोल रहा है कि ठेठ काठियावाड़ी में तेरे साथ बात क्या हो ही नहीं सकता है नहीं नहीं यही है वोमानंद जी को कहा कि उन्होंने मुझको कहा कैसा तो वो मनन जी हंसते हंसते उनके बहुत रॉयल हंसी है हंसते हंसते कहने लगे कि कहीं जयराम भट्टी तो नहीं कहा हाँ, हाँ यही कहा यही कहा यही कहा जयराम भट्टी में कहा ये कलयुग में शमशान होने वाला है मणिकर्णिका होने वाली है ये तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ दिन बाद और उनका बुलावा आया था बेलूमठ से उन्होंने कह दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ तो तू भी चल मेरे साथ करा चलो तो एक साथ दोनों फ्लाइट से चले आए सबिल भाई देसाई और अभ्यमानंद जी जाकर प्रेसिडेंट महाराज के साथ स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर प्रेसिडेंट महाराज के साथ मिलवाया प्रेसिडेंट महाराज को ये सब घटना कही उन्होंने वर्तमान प्रेसिडेंट महाराज आत्मस्थानंद जी को फोन कर दिया कि इसका जयरामबट्टी ट्रिप का बंदोबस्त करवाओ उन दिनों मैं जयरामबट्टी में पल्ली मंगल देखा करता था संन्यास तब भी नहीं हुआ था मेरा ये पचासी की घटना है संन्यास एट्टी सेवन में हुई अचानक मेरा बुलावा आ गया कि तुम जल्दी चले आओ तो मैं आ गया तो उन सज्जन को मेरे साथ आत्मसरण जी ने कह दिया कि ये इनको ले जाओ इनको अच्छी तरह से कुछ दिन रहेंगे तब तक उनकी दीक्षा भी हो गई थी छबिल भाई का दीक्षा भी टेन प्रेसिडेंट महाराज ने और स्पेशल माँ के नाम पर उनका भी दीक्षा हो गई अब वो वहां पर आए मैं उनको लेके आया वहां पर जयराम बटी इतनी बातचीत वे कहते गए tell something more about Holy Mother tell something more about Holy Mother तब प्रेसिडेंट महाराज ने कहा था कि वहां पर you will find one of the direct disciples of Holy Mother his name is Gaureshwarananda try to be with him तो बातचीत करते करते करते करते तो उस दिन दोपहर में हम लोग पहुंचे शाम के वक्त रामय महाराज हरिपद महाराज हमारे महंत महाराज मैं सुनील महाराज नारायण महाराज और भी जो ऐसे साधु लोग थे हम लोग आमोदर नदी के किनारे गए वो जो आमोदर नदी के घाट को देखा शमशान को देखा वो छबिल भाई लोटपोट कर रहे हैं वो लोटपोट कर रहे हैं करके this is the same place which I have seen in my dream आमोदर वहां पर जरा कर्व हो गए यही पर यही पर यही पर तो यहाँ पर करना है मुझे यहाँ पर करना है इसी को करना है तो उन दिनों कम्युनिस्ट लोगों का बहुत अत्याचार था तो हो नहीं पाया था तो बाद में वो खैर वो हुआ अम्यानंद जी महाराज थे तम्यानंद जी ने वो उसको एक रूप दिया उसको भूतेशानंद जी महाराज को जब ये प्रश्न कहा गया किया गया कि महाराज ये कैसे संभव कहा हम उनको दे रहे हैं कि यहाँ पर जाके तुम करो कहा अमेरिका में एक उसको इंस्पायर कर रही है गुजराती इसको कह रही है माँ मगर तो सीपीएम लोगों को क्यों नहीं माँ सपना में देख कर रही है सुनील महाराज बोल कहते वो नहीं रहे सुनील महाराज कह रहे कि अगर मामे इतना ही वो हो अगर इस घटना को हम लोग सच्ची माने तो सीपीएम के नेता बड़े बड़े नेताओं को बोलते कि वहां पर मेरा असमसन बनेगा तो लोग आपत्ति मत कर भूतेशानंद जी महाराज सीरियस हो गए कहने लगे निचो कि तुम्हें छाबलामी छो न तुम्हें यथार्थ तो अर्थ है जिज्ञासु क्या तुम मात्र मजाक कर रहे हो या तुम वास्तव में इस तत्व के अन्वेषक हो हम लोग सब चौंक गए क्योंकि इतने मजाक के मूड में थे महाराज अचानक कहें नहीं महाराज हम लोग सच में जानना चाहते हैं माँ कह महाराज कह रहे हैं कि देखो तीन चीज को जान लो कोई विवेकानंद को माने चाहे न माने मगर अकुत तो भय हो दूसरों के दुख कष्ट को जो सह न सके दूसरों के लिए सेवा में जो छलांग लगा दे उस पर विवेकानंद की कृपा वर्षित होकर रहेगी ही रहेगी कोई ठाकुर को माने चाहे न माने ठाकुर का नाम भी भले ही न सुना हो मगर जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है वो किसी भी धर्म का किसी भी जाति का किसी भी राष्ट्र का हो मगर जिसने सत्य को पकड़ के रखा है वो ठाकुर का कृपा उस पर वर्षित होकर ही रहेगी और जो अपने माँ को चरम और परम श्रद्धा के साथ देखता है महाराज ने अपने टीका टिप्पणी में जो कहा टुकड़े टुकड़े माओ का समन्वय है Holy Mother Holy Mother is nothing else but some total of all individual motherhoodness जिसका दूसरे के प्रति मातृभाव होगा अपने मां पर जिसका अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास होगा मां की कृपा उस पर वर्षित होकर ही रहेगी यही युग धर्म है तो आइए आज के इस पुनित पावन संध्या बेला पर हम लोग संकल्प ले भूतेशानंद जी इस युग के ऋषि ऋषि मुख से कोई ऐसी वैसी बात नहीं निकल सकती जो हमारे जीवन में हो गया हो गया आज से हम मातृभाव संपन्न होने का भरसक प्रयास करें माँ की कृपा तो है ही हम पर चाहे हम सूरत राजा को के दल में होए चाहे समाधि के दल में होए उनकी तो कृपा हम पर वर्षित होगी ही होगी मगर अपने को जरा अधिकारी तो बनाए माँ तो गोद में लेने के लिए तैयार है हम जरा बगल को तो फैला है इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा ओम शांति शांति शांति हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु आप लोगों में से जो लोग जयराम गए हैं या नहीं गए हैं वो लोग जरूर जाइएगा वो शमशान में और ऑलरेडी वहां पर कलकत्ता से बिष्णुपुर से तारकेश्वर से बर्धमान से यह घटना फैलने के साथ ही साथ जितने भक्त लोग हैं सब लोग अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर जाते हैं कि जारोमटी आमोदर के किनारे हम लोगों को किया जाए तो वो भी एक दर्शन स्थानों में से एक है